सायक एक कभि सर अपर लगे भुज सिर करि रोषा ले सिर बाहु चले सिर भुज हिन्न रुण्ड महिना चा धरी धसै धर धाव तब सरहति प्रभु खण्डा गरज मरत घोरव भारि कारा हतव हतम प्रचारी भूमि भूमे दस दशकन् छुवत सिन्धु सरे दिग्गज भू धर धरी पर चापि भालु मर कट समुदाय एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया दूसरे तीस बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धंसने लगी तब प्रभु ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला राम कहाँ है मैं ललकार कर उसको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई समुद्र नदियाँ दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा मंदोदरिया भुज से धरि सर चले जहाँ जगदीशा प्रभि से सब ने संगम हो जाए देख सुरन दुन दुभी बजाए सा तेजस मन प्रभुवानन हरसे देखे शम्भु चतुरायनन जय जय धुनि पुरी पुरी ब्रह्मण्डा जय रघुबीर प्रबल भुज दण्डा सहि सुमन मुनि वृन्दा जय कृपालु जय ते मुकुंदा रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहाँ चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई प्रबल भुजदंडों वाले थी रघुवीर की जय हो देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपालु की जय हो मुकुंद की जय हो जय हो जय कृपा कन्द मुकुन्द द्वन्द्व हरण शरण सुखप्रद प्रभो खल परम कारण कारुणिक सदा विभो सुरसुमन बरसहि सहि हरस संकुल बाज भाजद्वन्द्वि गहि गहि सङ्ग्रामयङ्गन रामयङ्ग अनंग बहु शोभाल हे कृपा के कंद हे मोक्षदाता मुकुंद हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों को हरने वाले हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभो हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले हे कारणों के भी परम कारण हे सदा करुणा करने वाले हे सर्वव्यापक विभो आपकी जय हो देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं घमाघम नगाड़े बज रहे हैं रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीन जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उडगन भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तनयति बने जनुराय मुनि तमाल पर बैठे विपुल सुखयापने सिर पर जटाओं का मुकुट है जिनके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और मनुष्य धनुष फिरा रहे हैं शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों कृपा दृष्टि कर वृष्टि बहु कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद भालु की सब हर से जय सुख धाम मुकुंद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे